بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة فقال له امرأة أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك बाप का उन्मान कायम किया है बाबुल हया है वैसे ये बयान इसी किताब में पहले भी आ चुका है और जो रिवायत यहाँ वो पेश कर रहे हो सब पहले आ चुकी है कि हया और शर्म का बयान शरीयत मुतहरा में हया और शर्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है इसलिए कि आदमी को गुनाह के कामों और अल्लाह की नाफरमानी से बचाने में इसका बड़ा दखल है किसी के मिजाज में अगर हया और शर्म है तो उस शर्म और हया की वजह से वो बहुत से गुनाह के कामों से अपने आप को बचा पाता है वह ईमान के जो कार की जो तासीर है कि ईमान आदमी को अल्लाह ताला की नाफरमानी से और गुना के कामों से रोकता है वही तासीर हया की भी है इसीलिए आगे रिवायत आएगी ईमान और हया दोनों को जुड़वा करार दिया गया तो बहरहाल हया और शर्म जो है उसकी बड़ी अहमियत है इसीलिए उन्होंने ये अनुमान कायम किया हया लुगत के अंदर कहते हैं किसी बुरे और गलत काम को अंजाम देने के मामले में शरीयत तबीयत के अंदर इंतबाजी कैफियत का पैदा होना यानी वो ऐसा काम जिसको अंजाम देने की वजह से आदमी पर कोई ऐब लगता हो और अल्लाह की नाफरमानी होती हो तो उससे वह उसको अंजाम देने पर शरीयत ये तबीयत में जो है एक इंतबाजी कैफियत पैदा होती है तबीयत उसके लिए आमादा नहीं हो तबीयत की अदम आमादगी उस काम को करने के मामले में तबीयत का आगे न बढ़ना रुकना झिझक महसूस करना इसी को हया से ताबीर किया जाता है यहां अगर इमरान हुसैन नदी अल्लाह तला की रिवायत है फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया अल आया लायाती अल्लाह खैर हया और शर्म जो है वो खैर ही लेकर आती है यानी उसके नतीजे में जो कुछ भी आदमी करेगा हया के तकाजे की वजह से उसमें खैर ही खैर और भलाई भलाई ये रिवायत बाद और फरूख से आई है खुद बखारी शरीफ के अंदर है उसमें है कि एक आदमी अपने भाई को शर्म के मामले में नसीहत कर रहा था मलामत कर रहा था बाद लोगों के मिजाज में इतनी ज्यादा शर्म होती है कि अपनी उस शर्मिली तबीयत की वजह से अपने हुकूक और मुतालबे जो दूसरों के ऊपर होते हैं उनकी वसूल करने के मामले में भी वो आदमी जो है हया की वजह से जोर देता नहीं है और नुकसान उठाता है तो एक आदमी के भाड़े में ये खूबी थी और उसकी वजह से वो अपने हुकूक के मामले में जोर नहीं देता था वसूल नहीं कर पाता था तो उसका भाई नसीहत कर रहा था अरे देवी सलाम की वजह से तुझे इतना नुकसान हो रहा है नुकसान उठा रहा है छोड़ उस पर नबी कि नुकसान ने भाई हया जो है वो तो खैर ही खैर है मामले में उसको टोकने की या सरजनिश करने की जरूरत नहीं और बल्कि तीन नबी करीम सलासम आयास रवी अल्लाह तला ने नबी करीम सलासम से पूछा कि हया दीन का हिस्सा है तो नबी करीम सलासम सारा दीन हया ही किस आदमी के मिजाज में हया होगी गोया वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा इसीलिए दौर हाजिर की जो तहजीब है उसकी बुनियाद ही बेहयाई और महाश के ऊपर है वो हया वाली सिफत को आदमी के अंदर से निकालने की कोशिश करती है ताकि उसकी वजह से फिर उसके अंदर वो जो गुनाह और नाफरमानी के कामों से बचाव का जो वस्फ होता है वो बाकी नहीं रहता बहरहाल ये हजरत इमरान हुसैन रजी अल्लाह तु ने जब नबी करीम सलासम का ये शाद नकल किया तो वहां हजरत उशैर में काफ मौजूद थे ये जो है अगली आसमानी किताबों और शरीफों के वाकिफकार थे तो उन्होंने ये सुनकर अपनी वो अगले शरीफों में पड़ी हुई बात को पेश किया मकतूमन फिर हिकमत न मिला हयाए वकारन वही न मिला हयाए सकियान के अगली आसमानी किताबों और शरीफों के अंदर हिकमत और दानाई की जो बातें लिखी गई है दूरी ये है कि बात हया और शर्म वो होती है जो आदमी के अंदर वकार और संजीदगी पैदा करती है यानी उस हया और शर्म की सिफत के नतीजे में उसके मिसाज में संजीदगी पैदा होती है वही न मेरा हया सकीन और बाल हया वो होती है जिसके नतीजे में आदमी के मिसाज में सुकून और तमानी की कैफियत पैदा होती है ये इन्होंने अगले सही थे या हिकमत की बातें तो पड़ी थी तो हजरत इमरान हुसैन से नबी करीम सलासम का हयाओ खैर लाया खैर खैर उसके मुनासबत से उन्होंने ये बात तो हजरत इमरान हुसैन नदी अल्लाह ने उनको कहा वहदिस होकर रसोल्ला तो देशों ने सही मतलब मैं ये कई सलाम का इंसान न कल करता हूं तुम अपनी चौपड़ी की बात करते हो हम बोल बोलते हैं तो यही यहां मैं भाई बेहतरीन ताबीर हजरत सही बाकी अरे बुजुर्ग सलाहों का इशाद आने के बाद आपके इशाद को किसी दूसरी चीज के जरिए से मुआयन करना जरूरत ये बात लोग तो कभी हदीस पेश करते हैं और हदीस की तारीफ है साइंस कामों की तकलीफ है और ये हुआ कि एक खैरत ईमानी के खिलाफ एक मोमिन को अल्लाह ताला ने जो ईमान अता फरमाया और उस ईमान के वतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के साथ जो ताल्लुक जो इश्क जो मोहब्बत और आपके इशादात के ऊपर जो यकीन और अहतमाद होना चाहिए उस अहतमाद का तकाजा यह है कि आपका इशाद सुनना बस यही काफी यह अथॉरिटी आखिरी बात बात खलास अब इसके बाद तो किसी और चीज की जरूरत नहीं कोई आकर उसकी ताई ने बुलाने साइंस बुलाने की कहा ने ने जो है फुलाने हफ्ते ही नहीं बात कही छोड़ो इन अंकों को इनकी हकीम से इनकी बातों से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि बातों की बातों को मुहैयत और मुशैद और जो है तकवीर पहुंचाना जरूरत ही नहीं एक गैरत ईमानी पर उन्होंने और इसी हदीस की शराब हाफिज ने हजरत सलानी रमतुल्ला ने एक याद की ये भी नकल की है कि उसमें ये दो जुमले तो ये हुए हया बाद हया वो होती है जिसकी वजह से आदमी के मिजाज में संजीदगी पैदा होती है बाद हया वो होती है जिसकी वजह से सुकून और कमानियत की कैफियत पैदा होती है और बाद हया वो होती है जिसकी वजह से आदमी के मिजाज में शौक आता है और नागरिक बेचारगी की आती है यानी गोया उस हया की वजह से वो अपने हकूक के मामले में गोया कमजोर पड़ जाता है ये जुमला भी इसमें एक मजीद नकल किया तो यहां नहीं है तो जब ये जुमला नकल किया जाहिर नौजबिल्ला इसका मतलब नहीं हुआ कि नबी करीम सलासम का जो इच्छा था लाया खैर उसके खिलाफ एक बात पाई गई इसलिए हजरत अमीरान इबन हुसैन ने नाराज होकर के यूँ कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सलाम की बात पेश करता हूँ तुम चौपड़ी की बात करते हो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा और हजार हजार साहबा रिजवान धारानी मजबूत का मिजाज यही था जो गया उनकी निगाहों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद अब किसी और चीज की जरूरत दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वकील हो अक्लमंद हो दानिशमंद हो दानिशमंद अपनी जगह पर हमारे लिए नबी करीम सलाम का इरशाद है वो आखिरी है होता है तो बहरहाल उन्होंने वह इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए ये जुमला कहा वह सुबह रसूल्ला है और तो हद सुनियत सही होते मैं नबी करीम सलाम की बात पेश कर रहा हूं और तुम जो है ये हिम्मत के नाम से ये बातें पेश हूँ अपनी चौपड़ी वाली बात ला और फिर आगे जैसा कि मैं बता मैं कभी किसी से बात नहीं करता रिजवानमैन की गैरत ईमानी और नबी करीम सलासम के साथ इश्क और मोहब्बत का जो ताल्लुक था तो इन चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो जरा तक इसके खिलाफ कुछ हुआ तो उनके यहाँ जो है नाकाबिल बर्दाश्त होता था हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तला एक मरतबा जा रहे हैं कि उनका एक बच्चा था भतीजा छोटा वो जो है वो गंगी लेकिन मार रहा था ये गंगे को इस तरह मांगने से फेंकने से नबी करीम शासन ने मना फरमाया कि भाई इससे कोई फायदा नहीं किसी के आंख में लग जाएगा तो आंख खुल जाएगी किसी के दांत में लगेगा तो दांत टूट जाएगा वो कोई दुश्मन का वो मारती नहीं किसी जानवर का शिकार नहीं करती मैं उनको ने फरमाया कि ये जो है बेफायदा चीज है इससे अपने आप को बचाओ तो अब्दुल शासन का ये इशार नकल करके उस बच्चे को रोका अब वो चले गए चिराए तो देखा बच्चा फिर उससे भी मजबूत था तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने नदी के इंतजार हो गया ऐसा तुम्हारे सामने कर दिया और तुम अभी इसी में लगे हुए मैं कभी तेरे साथ बात नहीं करूंगा यहां तक कि उसके जनाजे में भी शरीक नहीं तो बहरहाल ये नबी कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और वह आपके साथ ताल्लुक और आपका ईमान का तकाजा यही है حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم أن يعلى بن حكيم عن سيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر हजरत अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह तला का इर्शाद नकल किया यहां पर ये जुमला जो आगे नकल किया जा रहा है गोया मौकूफ यानी इबन उमर का मकूला लेकिन दूसरी सनदों में ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्शाद के तौर पर जिक्र किया गया तो है ये हजूर वसल्लम की फरमाई हुई बात है आपने क्या फरमाया इन हया वल ईमान कोरेना जमीन कि अल्लाह ताला ने हया शर्म और ईमान दोनों को जुड़वा बनाया एक दूसरे की जोड़ी है एक दूसरे के लिए लाजमी मजलूम है जहां ईमान होगा वहां हया होगी जहां हया होगी वहां ईमान होगा फैला रुपया आलूमा रुपया लाख एक अगर उठा लिया गया तो दूसरा भी हया गई तो समझो के ईमान गया इसलिए हया की शरीयत की निगाहों में बड़ी अहमियत है और वह अपना माशरा माशरे का तर्ज अंदाज जो है ऐसा ही होना चाहिए कि हया के खिलाफ कोई बात मारी न जाए और ऐसी ऐसी चीजें माशरे के अंदर का ऐसी चीजों का फैलना जो हया और शर्म को खत्म करने वाली है जैसे कि टीवी है और आजकल के दूसरे हालात हैं जिसके नतीजे में इंटरनेट के अंदर खास तौर पर ये जो फिल्में हैं ब्लू महाशी वाली उसको देखने के नतीजे में आदमी की तबीयत में से हया का अवस्था खत्म हो जाता है उससे अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है बाबुल जफाए अब ये जफा कहते हैं मिजाज के अक्खड़ पर मिजाज के अंदर जो सख्त तबियत में जो सख्ती होती है बाद लोगों की मिजाज और तबियत के अंदर सख्ती होती है अक्खड़पन होता है तो ऐसे सख्ती और अक्खड़पन को अरबी में जफा से जैसे देहाती लोग हुआ करते हैं ना इस तरह हदसना सईद उन सलेमान काला हदसना हुसैन अन मंसूरी अनिल हसन अनबी बकरा रजी अल्लाह तला अनो अनिल नबी सलासमनो काल अलहयाओ मिनल ईमान है والإيمان في الجنة والبزاء من الجفاء والجفاء في النار हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि हया और शर्म ये ईमान का एक हिस्सा है और ईमान जन्नत की चीज है तो जिसमें हया होगी वया वो भी उसको जन्नत में ले जाएगी बुराइयों से बचाएगी जो काम इमाम करता है वही हया करती है والمزاو من الجفاء اور بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ तबियत की अखड़पन जैसे है मैं जफाओ की ना और तबियत का अखड़पन और दिल की शक्ति जो है वो आदमी को जहन्नम के अंदर ले जाती है तो अपने आप को बेहयाई से बचाने का बेहयाई के कामों से बेहयाई तक पहुंचाने वाली चीजों से ऐसे माहौल से अपने को भी अपनी औलाद को भी बचाने का खास एहतमाम करना चाहिए حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي عن ابيه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زخم الراس عظيم العينين اذا مشى تكفى كانما يمشي في صعود اذا التفت التفت جميعا ये हजरत अली रजी अल्लाह से उनके साहबजादे हजरत मोहम्मद इमन अली जो मोहम्मद इमन हनफिया कहलाते हैं वो नकल करते हैं वैसे ही रिवायत तो यहां आई है तो हदीस की किताब की शराह करने वाले हजरत उलमा फरमाते हैं इमाम बुखारी अहमतुल्ला ने बाप का जो अनुमान कायम किया है उससे बजाय उसको कोई मुनासबत मालूम नहीं होती इससे पहले भी इस तरह की बात रिवायत तो मुख्तलिफ में गुजरी है बहरहाल हजरत अली रफी अल्लाह तला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एतदार के साथ बड़ा था हजरात साहबा रिजवान का उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम के अवाल और इर्शादात हर चीज को जहां महफूज किया वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजर शरीफा को भी यानी आपका चेहरे अकबर कैसा था आपकी आंखें कैसी थी आपकी नाक कैसी थी आपके कान कैसे थे आपके होठ मुबारक कैसे थे हर चीज वह आप सलासन की जाहिरी शक्ल सूरत कैसी थी वह एक नक्शा खींच लिया प्राणी तो आशिक होता है ना तो आशिक को तो माशूक के मुतालिक जिसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक होता है ये इंतजार रहता है कि उसकी सिफात से और खूबियों से वाकिफ हो गया उम्मत के वो अफराद जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक है उनके लिए हजरत साहबा रिकलाम तजमीन ने ये सिलसिला भी छोड़ा कि वो इन चीजों को पढ़ करके अपने चश्मे तस्वुर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक का एक खाका अपने जहन में सोच सकते हैं चुनाव चुनाच उसी कबीर से ये रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था लेकिन एतदार के साथ ऐसा बड़ा बांस का सर इतना बड़ा होता है जो जो है जरा गद्दा मालूम होता है खूबसूरती के खिलाफ नहीं सर का बड़ा होना यह अकलमंदी की अलामत समझी जाती है और साथियों एहतदार के साथ हो ताकि वो हुस्न और जमाल में भी कोई फर्क न हो अजीम ने नबी करीम सलासम की आंखें मुबारक भी बड़ी थी और उसमें सुरख रहे थे जैसा कि रिवायतों में आता है इधा मशा तकफ और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आगे की तरफ झुक करके चलते थे यानी आपकी रफ्तार नबी करीम सलासम की चाल की कैफियत क्या थी ये नहीं कि सीना तान कर सीना बाहर निकाल कर नहीं सर पीछे की तरफ हो बल्कि आगे की तरफ सर झुका हुआ कानमा यमशी फिसोन जैसे ढलान के ऊपर आदमी चलता है कोई ढलान ढलान वाली जो जगह होती है नशे की जहाँ जहाँ नीचाई वाली उस पर से जब चलता है आदमी तो उस चलने में उसका वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है और फिर यह है कि उसको मजबूती के साथ कदम उठाए तकफ्फू का लफ्ज जो आया है उस तकफ्फू के मुतालिक ये भी फरमाया कोवर के साथ पांव को उठाना और जरा तेजी के साथ तीन बातें मैं की गई एक तो झुक करके आगे की तरफ और दूसरा ओवर के साथ पांव उठा करके घिसट करके नहीं और जो है वो जरा तेजी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रफ्तार थी चाल थी उसमें ये तीनों खूबियां मौजूद थी एक तो आप आगे की तरफ जैसे बयानी झुककर चलता इस तरह चलते थे कानमा यमशी फी सोच ऐसा मालूम होता था जैसे आप दलान के ऊपर चल रहे उतर रहे इधर तफा था ये तफा था जमीन नबी करीम सलासम की आदत शरीफा ये भी थी कि जब किसी चीज की तरफ तवज्जो फरमाते थे तो पूरे तौर तो पर मतलब ये देखना है तो पूरा यू ये नहीं कि खाली यूं करके आंखें ये करके जरा सा नहीं पूरा जिसमें अथर जो है घुमा करके आप उस चीज की तरफ मुतवजह होते थे ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज आदत शरीफा थी बाबुन इलालम तस्तही फसनामाशी यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद जो आपने अगले नबियों के अखबार खुद नबी करीम सलासम ने भी बात बातें बयान फरमाई है अगली शरीयतों की उसको जिक्र कर रहे हदसना आदम काला हदसना शौबत मंसूरी काला समीत रिबी हिराशी जो हद नबी मसूदी रजी अल्लाह तलावी ये इबन हिरास ये भी सहाबी है और दूसरे सहाबी हजरत अबू मसूद बदरी अंसारी रजी अल्लाह तन से नकल करते हैं काल कालन नबी सल्लल्लाहु إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت हजूर सलासम ने फरमाया अगले नबियों के जो इशारात और बातें जो हम तक पहुंची है उनमें एक ये भी है कि जब तुम्हारे अंदर शर्मा न हो तो जो चाहे ये शर्म ही है जो आदमी को गुनाह के कामों से रोकती है जब आदमी के तबीयत में से उसकी मिजाज में से शर्म और हया रुख्सत हो जाती है तो फिर उसको कोई परवाह नहीं होती क्या ખયાહી કે નિયીમે ખયાહી કી વજહ સે આદમી અપના અપને એસી બાતે લગાને વાલી હે નાફરમાની સે ઉનસે બચاتا હે રોકતા હે તે ઇન ખયાકા માર્તા તબિયત સે નિકલ જાતા હે ખયાહી નિઝાર મે આ જાતું હે તબ વો કિસકી પરવા નહી કરતા અપને ગુજરાતી મે બોલતે નાગાને નાવવાનું બોલે છોડવાનું गया जब जिसने भी हया इख्तियार कर ली तो फिर किसी की परवाह नहीं करता तो बहरहाल यहाँ नबी करीम शासन फरमाते हैं कि ये हया जो है वो बड़ी अहमियत की चीज़ है अल्लाह ताला हम सबको इस सिफत से नवाजे દાઉદ શરીફની જે ચાર હદીસો છે તેની ઉપર અમલ કરવાથી ઘણી હદીસો પર અમલ થવા बराबर से कि हदीस होगी कि तो समझाओ चलो भाई तो है तो लंबी बात मुख्तसर अर्ज कर देता हूं जैसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह जो हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं और जिनकी तरतीब की हुई तालीफ करदा किताब सुनन अबू दाऊद हमारे यहाँ जो है पढ़ाई जाती है हदीस की अहम किताबों में उसका शुमार होता है वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पांच लाख हदीसें लिखी यानी हासिल की और उनमें से चुन करके इंतखाब करके चार हजार आठ सौ हदीसें अपनी इस किताब ने अबू दाऊद के अंदर जब लिखी पेश किए और फिर फरमाते हैं कि एक आदमी के लिए अपने दीन को दुरुस्त रखने के वास्ते इन सब में से पूरे जखीरे हदीस में से चार का तो चार में एक तरह नमल अमालो बिन नियात अमाल का मदार नीयतों के ऊपर है वही नमाल इमरी मानवा और हर आदमी को वही मिलता है जो उसने नीयत की नबी इंसान ममन कान हिजरत हो इला व रसूली हिजरत हो इला व रसूली इस आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है ना जो अमल नेक करता है वो अल्लाह उसके गांधी करता है तो वह उसी के लिए है और जिसकी हिजरत ममन कान हिजरत हो इन आदमी الذين हुआ और इमराती जंग के हुआ फैजरतला हाजर रही और दुनिया हासिल करने के लिए या औरत के साथ निकाह करने के लिए करता है तो जिस मकसद के लिए की बहरहाल गया इस हदीस में नबी करीम सलासम ने नीयत की अहमियत बतलाई कि कोई भी काम जब आदमी करता है तो उस काम को अंजाम देने के लिए उभरने वाला जज्बा कौन सा है आप जो काम करने जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं इस काम को करने पर आपको कौन सा जज्बा उभर रहा है अगर जज्बा अल्लाह को खुश करने का अल्लाह को राजी करने के खातिर ये काम कर रहे हैं तब तो ठीक है और अगर किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं तो फिर वो बात हासिल हुआ इखलास जो है शरीयत के अंदर उसकी बुनियाद ये हदीस है सारी इबादत जो है वो इसी में आ जाती है और दूसरा इर्शाद नबी करीम सलासम का अल हलाल उबैन वल हराम उबैन उबैन उमा उमूर मुश्तबे मुश्तबहात कि हलाल यानी अल्लाह तला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है वो भी नबी करीम सलासम ने खुल्लम खुल्ला और वाज अल्फाज में बतला दिया और जो चीज़ हराम की गई है वो भी वाज तौर पर बतला दी गई अलबत् उनके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमनी तकशुबात फकर फकद इस्तवरा ले लेंगे जिस आदमी ने अपने आप को ऐसी मुश्तबल चीजों से बचा लिया उसने अपने दीन को गोया बचा लिया उसकी हिफाजत कर ली उसको मिसाल देते हैं उस जमाने में चरागाहें होती थी जहां लोग जानवर चराया करते थे तो बास चरागाहें वो होती थी जो तो हुकूमत की तरफ से रिजर्व कर ली जाती रिजर्व एरिया हुकूमत का रिजर्व एरिया वहां कोई आदमी अपना जानवर चला सकता नहीं है तो फरमाते कि जो आदमी उस रिजर्व एरिया के करीब चलाएगा जानवर को तो अंदेशा है कि कोई अंदर भी मुंह मार देगा चला देगा और जो चीज जिससे मना किया गया है उसका इंतकाम कर देगा तो उसका उससे बचने की शक्ल यही है कि उसके करीब भी दूर रहे ऐसी जो चीजें जो वो बातें जिनके दाने और सिर हराम से मिले हुए हैं ऐसे उम्र से भी अपने आप को बचाने की जरूरत है और ये मामला को दुरुस्त करार देने के लिए इसको बड़ी अहमियत दी गई है और तीसरा इशाद है कि मोमिन हुसन इस्लामी मरे तरकुम आयानी आदमी के इस्लाम की खूबी है कि नायानी बातें लायानी काम उससे अपने आप को बचाए उसको छोड़ दे ये वह अपनी जिंदगी के औकात को गोया सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये नबी करीम सलासम का इर्शाद जो है वो बुनियादी हैसियत रखता है और चौथी बात जो है वो ये है मर मरो मोमिन हत्ता युहिब यरजा लखी मा यरजा लनफसी जो बुखारी में ये रिवायत ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब लखी मा युहिब लनफसी इमाम अबू दाऊद से वही अल्फाज है जो मैंने पहले नकल किए तो बहरहाल कि कोई आदमी मोमिन नहीं होगा यहाँ तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करे जो अपने लिए माशरत कि आपस के ताल्लुकात को खुशगवारी के साथ बाकी रखने के लिए नबी करीम सलासम का ये इर्शाद जो है वो बुनियाद किया देखो अगर यही इर्शाद आदमी जहन में रखे तो कभी कोई झगड़ा माशरे में होगा भाई हम किसी के साथ कोई स्वरूप मामला करने जा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यही मामला अगर मेरे साथ किया जाता तो क्या मैं इसको अपने लिए बर्दाश्त कर सकता था गवार नहीं करता तो मुझे भी दूसरे के मैं किसी को गाली दूं तो मैं यूं सोचूं कि भाई मुझे अगर गाली दी जाती तो मुझे ये पसंद होता नहीं तो मैं दूसरे को मैं किसी की मां बहन को गलत निगाह से देखूं तो मैं मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी माँ बहन को कोई आदमी गलत निगाह से देखने जा रहा है तो क्या मुझे ये पसंद है गवार है नहीं तो मुझे ये नहीं करना मैं किसी को धोखा दूं गलत चीज बेचूं खरीदो फरोख्त के अंदर तो मैं ये सोच रहा पहले कि मुझे मेरे साथ ये मामला किया जाता तो मैं अपने लिए पसंद न करता उसे तुम्हारा तो ये एक ऐसी चीज है कि सारा दीन हुआ इसमें आ जाता है ये चार रिवायतें ही ये जो जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी और वो न कर सका तो उसके लिए क्या हुक्म है उसके लिए हुक्म यह है कि दरमियानी किस्म का जो बकरा है उसकी कीमत का सत्ता कर दे ये उसके लिए कुर्बानी की कीमत का सत्ता करना जरूरी है और वो दरियानी किस्म का होता है इसलिए कि कीमतें मुख्तलिफ होती हैं आला किस्म का भी होता है घटिया किस्म का भी होता है और दरमियानी तो दरमियानी किस्म का इतना में दुआ गुरु के बाद गुरु ही पढ़ना कैसा पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए और सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम शामी में भी मसला है पारा इस तरह के अंदर दुआ बुरूज के बाद अखीर में दुरुद हो ये सुन्नत है दिवाली में हैप्पी दिवाली कह सकते हैं हिंदू लोगों को तजारत की वजह से हदिये दे सकते हैं दिवाली की वजह से इस तरह टीचर होने की वजह से या किसी भाई देखो गैर मुस्लिमों के जो मजहबी त्यौहार हैं उन मजहबी त्यौहार के मौके पर खुशी का इजहार करना शरीयत इसकी इजाजत देती नहीं ये बड़ा खतरनाक मामला है शरीयत में इसकी बड़ी सख्त पाबंदी है और इस पर ऐसे मसाइल बयान किए गए हैं कि अगर उसको आपके सामने जिक्र किया जाए तो आप उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वहां उस, उस जमाने में जो है को जब ये आतिश परस्त ये पारसी लोग मान रहे थे ईरान फता हुआ तो वहां उन्हीं का जो था तसल्लुत था आतिश परस्तों का अग्नि पूजकों का वो जब ईमान लाए तो महाराजान उनका जो है वो एक त्यौहार है नौरोज ये मौसमी बहार का पहला दिन जो होता है उसको इस मजहबी त्यौहार के तौर पर तो आलमगीर में लिखा है कि नौरोज की ताजीम की गरज से अगर किसी को अंडा हदिये में दिया तो वो काफी हो गया बहरहाल इस तरह ये इसलिए महाराज इस तरह ये चीजों में एहतियात की जरूरत है उनके मजहबी त्यौहार की ताजीम की नीयत से कोई काम करना नहीं चाहे बच्चे तो अच्छा। अब उन्होंने कोई चीज दी तो अगर मजहबी ये ये नहीं है वैसे ही इसलिए आगे पीछे एक दिन का ये कर ले तो गुंजाइश निकल आएगी लेकिन फिर भी बचना बहुत जरूरी है سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ولانا محمد ما تحب وترضى بأدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رزاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك وعدي بعداوتك من خالفك من خلقي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة कानो फैन कताल खाइन तलाइन हमारा तो फिसलून अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा हमारी खताओं से दरगुजर फरमा हमारी हमारे वालदेन हमारे अहलोयाल हमारे भाई बहन हमारे अजीजा और अकारीब हमारे इस और मशाइ हमारे दोस्त और अहबाब हमारे मौसमी और मुतालिन मुखलसिन और मुहबी और जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा लिखा आपके उनसे दुआओं की तो उम्मीद रखे हुए हैं और तमाम मोमिनी व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मफरत फरमा हमारे छोटे और बड़े जाहिर और पोशीदा अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा हमारी सयाहत को हसनात से मुबदल फरमा अल्लाह तेरी मर्जियात पर हमें ज्यादा से ज्यादा चलाकर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों को अपनी जिंदगी के हर शौबे में जारी करने और अपनाने की अल्लाह तो हमें तोहफी को शहादत अदा फरमा हजूर अकम सलासम के तरीकों की मोहब्बत और गैरों के तरीकों की नफरत हमारे कुलूब के अंदर डाल दी अल्लाह तमाम रजाई से हमको पाक साफ फरमा कर महासिन अखलाक से मुजयन फरमा तेरी मारिफत मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनवर फरमा तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा में जिक्र और में दाद की हमें तोफी कता फरमा तमाम अमाल में अखलास इतबा और एहतसाब की कैफियत नसीब फरमा अल्लाह हमें हमारे अहलोयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत क़वत आफियत सलामती दुनिया आखिरत की भलाइयों से मालामाल फरमा हमारी तमाम ज़रूरतों की अल्लाह तो अपने खजाने गैब से किफालत फरमा हमें किसी का मोहताज हो दस्तनिगन न बना हमारी रोजियों में बरकत और उसत अता फरमा हमारी औलादों को अकायद हक़ा हलूम नाफिया आमाल सालिया अखलाक फाजिला से माला माल फरमा बुरे अखलाक बुरे किरदार और गुफ्तार बुरे आदात और अखबार बुरी सोहबतों बुरे माहौल के असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से अल्लाह उनकी पूरे पूरी हिफाजत फरमा अपनी शान रबूबियत से अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमाकर उनको हमारी आंखों की ठंडक हमारे दिलों का सुरूर हमारे लिए सत्य जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़कर बना उनकी दीनी दुनियावी तालीम व तरबियत का अल्लाह बेहतरीन इंतजाम फरमा अल्लाह हमें और हमारे तमाम मुतालिकीन को नमाज का कायम करने वाला बना दे नमाज का इश्क और मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे नमाज का खुशो खुजू हमें नसीब फरमा नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना अल्लाह नमाज की अनवार बरकत से हमारी जिंदगी और हमारे घरों को मुनवर और मामूल फरमा अल्लाह तमाम इबादत की अदायगी का एहतमाम और तोफीक नसीब फरमा मामला की दुरुस्तगी अदा फरमा माशरत का हुसन अदा फरमा आपसी हकूक की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा आपस की हक तलफियों से अल्लाह हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा अल्लाह मुख्तलिफ हैसियतों से जो फराइज सभी तूते हम पर डाल रखे हैं उनको पूरी अमानत और ज्ञानत के साथ अदा करने की हमें तोफीक और शहादत अदा फरमा अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमा मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा कैदोबंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा मुकदमात में माखूजों को बड़ी फरमा अल्लाह जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उससे नजात अता फरमा बेघरों को घर अता फरमा बेसहाराओं को सहारा अता फरमा बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा बे औलादों को औलाद अता फरमा जिनकी औलादें नाफरमान है अल्लाह उनकी औलादों को तो तेरा और उनके माँ बाप का मुद्दी फरमा बरदार बनाकर माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा पहला जिनकी औलादे शादी की उम्रों को पहुंच चुकी हैं उनको साले जोड़ अता फरमाकर उनके निकाह की सूरतें पैदा फरमा जिनकी इस दिवाली जिंदगियां तलखी का शिकार हैं अल्लाह उनको इस दिवाली जिंदगी की हकीकी मसरतों से मालामाल फरमा अल्लाह हजूर पाक शासन का उम्मती जहां कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की जान माल की इज्जत आबरू की अहल यार की तजारत ज़रात कारोबार की हर चीज की पूरे पूरी हिफाजत फरमा अल्लाह ये उम्मत जहां कहीं भी मजलूमियत का शिकार है अल्लाह उसकी नुसरत और मदद फरमा जालिम के हाथ को जुल्म से रोक ले अल्लाह ममालिक इस्लामिया के सरबराहों को हिदायत अदा फरमा बेदीनों मुलहिदों की सरबराही से ममालिक को नजात अता फरमा कर दीनदार अमानतदार है गैरत ईमानी से भरपूर हाथों में इकतदार अदा फरमा तो अपने अपने इलाकों में शरीयत मुतारा को जारी और सारी करने वाले हूँ अल्लाह खिलाफत राशिदा के नहज पर खिलाफत इस्लामिया कायम फरमा अल्लाह आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के लिए खैर के फैसले फरमा अमन अमान की फिजाएं कायम फरमा अल्लाह इस्लाम और अहल इस्लाम के लिए हर पहलू से जिसमें खैर हो अल्लाह उसके फैसले फरमा दे अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमा हर शर से हिफाजत फरमा हर खैर का फैसला फरमा अल्लाह तेरे हबीब पाक वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को आता फरमा जो शुरू और बुराइयों से बना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा अल्लाह यहाँ मौजूद तेरे तमाम बंदों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा रबना तकबल मिलना इन कंत समीउल अली वतुब अलैना इन कंत तवाबुलरहीम सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की सईदना मौलाना मोहम्मद अली वसाबी अजमैन बेरहमत ही गया